अरे रोपिनी समरा में दिखे लागी लागी मेंढे लाज मारे नारे मेंढा पे लागी लाज दे तोरण मेरे तणिया नम नम मारे राम तोरण रण पुरे जाने आ માના માકો રણ રણ કોરા બજે મહારાયા કોરણ માર્યો રે રામ રાણા તને તોડે માર્યો યાદ તારે ની મારા રે ની કે રા વિનાય બેટા સમર્યા કે માં જે આના હવે બેઠા રે સમર્યા કે ના માય તેરા ખાવે છે સા તેરાનું યાદ તેરા તો ખારે તો મરદા સાત ફેરા ભવર ભોજ કા ખાંડા પુરાણી જેમ દિખાજી છે આ જબ જાન નો હુકમ લાગ્યો राणा जी की बरात सज तैयार होकर तोड़ पे रवाना हो रही थी ये मदा मेढे लागी लाई तोरण पे तुरंगा थे हाँ तो राणा जी ने तोरण मार और चवरिया में विराजमान हो गया थी रानी जयमती सोचले जोड़ के और राणा जी ने साथ फेरा जे रानी जयमती का राणा जी खा लिया थी दो मधा परण के राणो जी और कहीं मेला के नीचे उतरे और कहीं धन डाई जो अरे तो लज्जू डाई जन दे मां मारे नारे तेरा ते डाई ना રે આજીજી જપ દેરો રાજા રે અબડાઈ દાય અબે આવે રે જાન પાજી અબ લાગી છે રે પત્યા લાગે છે પત્યા ડાયજમ भाई साहब के दे दिया थे ये मधा जो थंग दौलत लेके और दोनों बराता का डाइजो सीख सोलंगी राजा से यहाँ से सीख ला दी थी तो मधान जान बरात अरे रणका राव जी की फाची जो राण में दावा के वास्ते तैयार हो रही थी हंस हाँ, हंस के और बद्या राणा जी की जान में ला रानी जेमती के ये मर्दा टोड़ो सजा तैयार करके टोला में रानी झीमती और हीरा बांधी और एक जो रथवानी विराजमान हो गया तो कहे कहा आगे जान सवाई भोज की चाल लीजिए और पक्ष राणा जी को लाव लश्कर और बरात आ रही है एर कहे देखा पाछी राणा में जो जान राणा जी की जा जारी है Oh आई जोना की जान फाटिया पे आवे राणा जी की हो ਤਾਇਆ ਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੋਜ ਧਾਰਾ ਯੁੜਦਾ ਥੋਇਆ ਰਿਆ ਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਇਆ ਮਨੇ ਸਿਵਾਈ ਰਾਜਾ ਬਾਜ ਕਾਈ ਗੜੀ ਪਲਕ ਖੇ ਮਾਨ ਮਾਰੇ ਨਾਮ ਗੜੀ ਰੇ ਪਲਕ ਖੇ ਮਾਈ ਜੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਰੇ ਗੜ ਰਾਣ ਮਾਈ તો ભર ભોજકા ઘોડી બોડી એ મર્દાન नाच तैयारी छे हाँ तो जान पकड़ाओ ताकि राणा जी की ए मर्दान जान राण में दारी छे आज के घोड़ी पूरी नाचे सवाई राजा भोज की चमकत आर्या छ सुंदरा सेल बहुर भोज का जो झंडा उतारा छे ये मर्दा राण और कोट को कांकड़ाया तो पकड़ाओ तो कोट के गेले घोड़ा फेर दिया छे और राणा जी को लश्कर રાણ માં જાર્યું છે तो राण ગોઠ का ખાંકડ में ये मरना पकड़ाओ तो गोठ मावा लाग्या और राणा जी की बरात थी फटवा लागी तो रानी जेम थी रथ में बैठी हुई तो कहीं देखा रथवानी શું કે છે কিছুই শাকিলা আর মারে রারে যাও কিছুই শাকিলা মারো রে কথানো থয়ে দিজে মাথে লাগা যে দিয়ে রে বীরা রে মতি লিগা যে রে रानी जेमती रथवानी सु देख बोले के देखे रथवानी ये वीरा કે ચોઈસ બેટા बनाओ खटी जा रहा थे कि भाई साहब ये तो गोठ में जा रहा थे और राणा जी की बरात जो राण में जा रही थी रानी जी एमती देख बोली की देख रहे रथवानी चढ़िए पकड़ाओ चावे उठी मारो रथ डोड़ो फेर दे मैं राण में कभी नहीं रथवानी देख बोले तो भाई साहब बावड़ी ने होगो तो चोइस बेटा पकड़ाओ छे रंगीली गोठ खा गुजर छे એમાંથી ગોઠણ કર્યા છે ઓર આપ તો આપ રાણા પધારો રાણાજી કી રાણ में भाई साहब पधारो कर नहीं रथवानी रत्न हरो गोठा में फेर दे नहीं तो महारूड़ा क्यों खा ये मेरा खुद थारी बदन की चामड़ी तो रानी जेमती कांकड़ पे मचल और रूस जो रानी जेमती पेड़ रथवानी सूखे हुई पर रथ गोठा में नहीं फेरे तो देखा एकदम सुरानी पंकट रूप धारण कर काली कंकाली को रूप धार करके और कहीं देखा पर्दा में बैठी बैठी और कहीं उर्थ के ताई उर्थ का हंगबा का हड़ा का ताई तो कहीं देखा स्वरूप बताओ जी कंकाली को रूप भवानी थाने दारियो छे बंकट ये हाथ खा पारे राम चाकारी हाथ खा पारे होगी चे बकरा भवानी वा तो योगी चेर बकरा ડોળાશું રામની ચોરે પડી ગયો ડોળાશું માજો જાન મે રામ હા કો માજો રે જાન મે દીના મોડ તો ઈશ ગોળા ને દિયા પાછા राणा जी की राम फौज से दी तो डटेगी से रानी जीव थी ने काली कंकाली को रूप धार करके और हाथ में खप्पर चक्कर ले और भवानी भकराड़ो के और पर्दा भीतर बैठी रथवानी के तरह रूप दिखायो रे तो आकदम सो भकराड़ दिखी ने तो रथवानी तो घबरावा लाग गयो डोला के नीचे जापड़ियो अरे मर्दा कार मट्टी पूछ को जोड़ा मुंडा में ले गयो सभी बात की कोई बात की शुद्ध ये मेरी को ही और भूल के चकना चूर ये मर्दा दम सु बार को तो हल्लो गुलबो रे तो पकड़ाओ ताकि भी घोड़ा की लगामा फाजी खींच ली से और पकड़ाओ तो डट गया और राणा जी की फौज भी डट गई और राणा जी भी वापस फाचा फिर आया चोइस बेटा बढ़ाओ दिन बोला करे पूरे चोइस हो गजब की बात होगी रानी तो कांगड़ पे रूस गई ये वीराओ अब जो आपने जो रानी ने रहा अपनी बोट में चलांगा तो कांकड़ पे आपने जो छिदना प्रेम सो सक्राम हो जाओ बीरा लाखों बीरा की देवड़िया बाकी यही आप सकराम में पड़ जाओ बहुत जी देख बोलो कहीं करो चाहिए दादा भाई तो कहीं लगा बहुर बहुत देख बोलिया नेवाजी सुख देख रही नेवाजी रानी के ताई कहीं कहीं बात को हमला सुबंदा अरे चालू काई घोड़ाना फाजा फेरे है एर जी नाना जी की भी जान फाच आगी तो काई ने रानी के और साई भोज के बाद जी हो जाओ आधे घेरे लूटे भाजी ये राणा मेरे मरीदा जावे ने राणा जी की देने माते माने ने करा छा राम रानी थे सुको लिखिरा छा और वो समझा के देखते रानी जी की कभी की बात ए रानी जी अब हार तो था राण में जाओ और थासू कोल कर जावा जी धनी में थाने लेवा के वास और जो आपने रूस में मार दियो तो बाहर कांखड़ पे ही राणा जी की फौज और वहां की फौज आमी सामी संग्राम जो लड़ेगी तो रानी जेम जी लाखों पीरा की देवड़ा यहाँ कांखड़ तो जाओ रानी जेम जी देव बोले करे बोले चोरी साओ ये भीरा जियो मैं सुकोल करार कर जाओ तो मैं राण में जाऊं मैं तो कभी भी राण में नहीं जाऊं भले खा के संग्राम हो जाओ तो कहे देखा भोजी रानी जेम थी सुकोली contrário. अन तीन दिन के बोल कारानी दान तीन ते सुनानी को दिखी रानी दान સાથે લડાવે રાણ રાણી તું તો મતી લીલા જોઈએ બોલે છે રાણી રે આજ કોઈ સાસુ બોલે છે રાણી તીન દાના કો બોજ તે સુ તીન દિના કો રે वाले बाया जे जे राण के कोल बचन राम चूक जावे कोल बचन तू याद ये माथो धोलूंगी काटी चोई संखारे माथा धोलूंगी बोला कि देख रे रानी जी थी राणा जी की लहर में जा और तने तीन वतन जरूर भी मैं राण में सुन लेवा तने आ जाओ रानी जी थी तीन वतन लेवा नहीं आवा तो थारा आशा जी कर दीजिए રાણી જેમથી દેખ બેલા કે દોકરો ચોઈસ બેટા પડાવ થો અગર થાકેર માં કે તીન દિન કા પોલ છે તીન દિન में जो मने राण मसु लेवा नहीं आया छो तो चौबीस बेटा बगड़ाओ था का माथा काट काट और रुंड मारा गला मत कर हे बोझ जी यह बात मंजूर हुए तो तुम मैं सुकोल बचन कर जाए भौज जी देख बोला कि निकली रानी थारे मारे ताली बचन छे तीन वादन ने जो तुमने लेवा नहीं आऊं तो थारा आशा हो जुड़ी कर जी મે બચન હાર હો જાઉં પ્રાણી જીન તીને બોજી કા બચન દે રિયા છે તો ચોયસી બેટા પકઢાવતે રдили ગોઠ માં આવે છે આ એ રાણાજી જી જાંજીયું રાણ માં રોના ન જાય છે पारी श्री राम राणा जी पे ओरी जे राण के पटरी लाखा की बधाई नान वे लाखा लाखा की बोले थे रानी राम जे मती बोले थे रानी Deiro. अरबी खड़वी का बाजा बाल जाते छत्तीस राग जो राणा जी की जान बरात बाल जाते बाबा महाराज कमा तो या श्रोता रानी जेम थी बाग में जो डेरो ढाल दी थे रणकार राव जी सुन रानी जवाब कर रही छे देख रे रणकार राव जी थारी पुरानी रणवास में मैं कभी भी पग नहीं दूंगी राणा जी तू जी तो मारे पेट बना और दूसरो बहुत सुरीलो मेल रणवास मारी तैयार कर पूर्ण आश्रम में जाऊंगा नहीं तो राण में कभी तक नहीं जितना रणवास तैयार नहीं हुए जितने आप आगामी महादेव इतने के था राणा जी के ये राणा खा रखे और कहीं जी रानी बात करे મેલે કે માં રાણીજી ચાલો ને મેલા ખેરે માં और राणा जी ने नोयो जो महल रानी के वास्ते तैयार कर दी थी तो करोड़ों लाखों रुपया को नुकसान राणा जी को बढ़िया बढ़िया देश देश का कारीगर भला और रात और कर और रानी जी की मेला तैयार कर दी थी धन उगता प्रवाह राणो जी बाहर में आते बोला रानी जी पधारो महल तैयार हो और आप पधारो जो प्रेम जो उठा रहे हो राणो अस में आप पधारो रानी जीव की सोची के ना दिन रात कर हिंदू तुरंत को तुरंत ही महल तैयार कर लियो पगड़ाओ तंगा तीन दिन पूरा नहीं होगा दे जी के पहली रावण जी जरूर भी चोट की बाजी आप खेल ले रानी जीव थी जमन में कंपा उठी एकदम से उठा रानी देख बोली के देख हे राणा कहां अपना मारो मेल और किशो को फाड़ो मारो मेल बनाए चाल देखा मना बता तो रानी जीव नई रणवास के ताई देख बा जावे तो राणा जी ने हीरा मोतिया को जड़ाव कर मिलो और बढ़िया सुंदर काच ही काच को जड़ाव हुए थे और मेल जो बहुत ही बढ़िया सुंदर बना मिले थे तो कहीं देखा रानी उमेल ने देख बजावे और कहीं एकदम से पंकट रूप धारण करके और कहीं देखा कड़ी नजर कर देखे मेलाडी ये दारियो रे पंकट रूप ਪਿੱਛੇ ਵੇਦਾ ਬਾਤ ਰਾਣਾ ਥਾਨ ਕਰ ਦਿਛੀ ਵੇਦਾ ਮਾਤ ਰਾ ਕਰ ਦਿਨੇ ਰਣ ਕਾ ਰਾਮ ਨਾਏ ਜੇ ਆਚੋ ਬਣਾਇਓ ਮੇਲ ਰਾਣਾ ਥਾਨ ਕੋਟੋ ਬਣਾਇਓ रानी महल ने देख बागी तुमरदासल पंकट रूप धार काली कंकाली को रूप धारण करके और करड़ी रूप ધરણ कर झांकी मेल आड़ी तो मेल आड़ी देख जो चूक तो मेल कोट कांगरा ठन ठन नीचे पड़ गया रानी जेब थी के राणा जी गजब कर दी मेल की पेड़ी ने चढ़ी जी पहली थारो मेल तो धड़ नीचे पड़ गयो ये राणा जी ऐसी हो जाती जो मैं मैल मिल जाता तो मैं भी दबर नीचे मर जाती राणा जो मेल कोई भारा पसंद नहीं है दूसरे जन वास्ते तैयार करनी चाहिए तो आ तो ऐसा कर कर तीन दिन पूरा करेगा भाई इतना तो पकड़ा उतरे भरपाश पास माही जाओ राणो जी न टूटा फरजा ये वरदान ने वो मेहर तैयार करे और रानी धनुगा जावे और मेहर में जोगदान ढल ढढ़ा राजा तो तीन दिन लाखों अरबा खरबा को नुकसान रण का राव जी को कर दियो पर महल से पूर्ण रानी जेमती नो बन रानी जेमती ने सोची राणा जी रेबा की रणवास तो तू एक गाड़ी चुनवा दे और मारी बैठ गए ये राणा अरे एक गाड़ी चुना ले तो रानी रेवा की बैठ गए जो मरा एक गाड़ी चुनाई लाग रही है और जो राणो जी शहद पे लेके और रानी ने रणवास में ले जाओ वो मेल जो रानी से तो रानी जेब थी एक बहुत अनोखी ये मदा मेल है બાપુ जो महलियो છે वहीं रानी और बांदी प्रेम सो महल में रेवी छे और बहुत मौजा उड़ाई तो कहीं देखा रानी जयंती के है और कहीं बांदी सुने छे ए मर्दा तो बात वो बोल कर पकड़ाओ तीन दिन का ये हीरा आज वाना छिछे छः महीना हो गया पकड़ाओ तो किसान आया कहीं बात होगी और कहीं बात गोट में गुजरगी देख रहे हीरा ये भाई साहब तू भी नहरूचुआ की बात हीरा छोरी ये भाई साहब का जब की बात होगी रे पकड़ाओ था तो कहीं बात की आटी आ गई जो हलता ही मैंने लेवा के वास्ते ना आया और राणो जी रणवास में ले जावा के वास्ते पोवती गदन को हटला गए थे पर हीरा छोरी मैं राणा जी की महलात तैयार जहां तक बगड़ा हो तो गोठ में नहीं आओगा ये राण में नहीं आओगा जहां तक मैं राणा जी की रणवास पूरी कभी भी न हो ये वचन रानी जयंती ने ले लिया थी तो बांधी और रानी जयंती को प्रेम सो राण में सुबह सुबह से और बगड़ा चो कोल कर भूल गया जे रानी आड़ी देखवा की कोई जरूरत ही नहीं पड़े तो कहीं देखा चोइस बेटा प्रेम सो बाग में हे मरदा हाँ, गोठ में विराजमान हो गया थे चोइसी भया के पास आस्ती दांत का पड़ गया खेल रहा चौपड़ को खेल काली कोडा का जालिया विराजमान हुई थे ये मरदा हाँ, साढ़ा तीन सौ गया का गुआड़ नापा नौ लख चरावा से नौ लख गाय चोइसी बेटा पकड़ाओ थे दनुंग था परवाहतना चौपड़ी चौपड़ को खेल मार दे सारो दन चौपड़ खेले कोई बात की चिंता नहीं करे तो कहीं ने कहा होगी की दीनानाथ की तो भोड़ो शंकर महादेव महाराज कहीं माया उपावे और कहीं एक छोटी सी चीज बना गति कोयो तार बदोर मोक्ष गति कोरयो बोले छे बोला राम श्याम जी बोले त्रिपुरा बेटा बगड़ा तो गोठ में विराजमान हो गया भोलानाथ जो पाठण थाप्या थे ये एकदम सो पलक खुलथाई शव ने जठा मुकुट सु एक माया रूपी तो बजोरी कांदरी रूपा और शव जी बोला के देख रहे कांदरी चौबीस बेटा बगड़ाओ तो बहुत दानी छे तो दुआ ने जाच जाजी तो यहाँ कितनो तो तने दान दे छे आ कितनो अंबर नाव जमीन पर करे छे बगड़ाओ स्त्री का दानी ए मर्दा आशा जोरदार सरदार नेवा भोजा तेजा जी महारावत बड़बंका सरदार से तो तू बुजुर्ग कांजी गोठानो आने जाचवा के वास्ते पूजा जी ¡Vamos! महादेव ने भीजी से उबा के तो बझोरी कांदरी नहीं ये मरदा पाटा घोड़ा पे ऊठा पे धार धर चांदी का ले बांसड़ा है बधोरी कांदरी जो गोठा में जारी छे बधोरी कांदरी को लश्कर हरे गोठ में जारी छे गोठ में बधोरी कांदरी तनुग था प्रवाह बधोरी कांदरी को जुडेरो गोठ में आर उतरी गयो छे दरुग था प्रवाह चोइस बेटा पकड़ा जो बराजमान होया काली कोडल है जाज में बछरी छे चक्री की जाज में आ हे मर्दा पकड़ा था नीचे बची हुई छे पासा पटकरी हाथी दांत का खेल चोपड़ को खेल चोइस पकड़ा होत हे मरदाम बराजमान हो जाछे डाला सु डाला घसे बर्छी सु बर्छी घसे हे मरदाम गोडी सु गोडी कर रही है पेठा से जादम का चोइस पकड़ा होते बराजमान हो जाचे तनु का प्रभात हाथ जोड़ के बजोरी कांजरी त्रिखाना में जार बगड़ा हो सासु देख बोली के रे बगड़ा होता हो आज था को कहा दना को नाम सुन मेले छे तो आज जरूर मारो खेल देखने चाहिए या बात बजोरी कांजरी ने सुनता ને ઓરસા ધાર દેખ બોલ્યો કે બધું कांदरी ये મધાન ચોવીસ तो बेटा બગડાવ બિરાજમાન હો રહ્યા છે અરે થારો ખેલે તું તું બધું કાંદરી કર દે બધું કાંદરી કે છે કે શ્રી નાતા ખેલ તો मैं जा दर मारो बीड़ो आप जो भाई उठा लेगा जब जा खेल करूं ना तितना खेल नहीं करूँ तो कहीं ने कहा बजोरी कांदरी पांच पानों की बीड़ो बना के और कहीं चोशी बेटा बढ़ाओ ताकि कचेरी में पटक देवे Thank you.